अमाल और तीसरा है वक्त ये वक्त के बारे में बताएंगी ध्यान से सुनिए السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد محترمات ومكرمات عزيز سامعات جلسة अभी अभी आपके सामने हमारी दीनी बहन ने ईमान के बाद मिलने वाली तीन बड़ी नियामतों के बारे में बताना चाहते थे वक्त की किल्लत की वजह से उन्होंने दो बता दिए तीसरी नियामत को इनशा मैं आपको बताऊंगी मेरी माँ बहने माल के बाद तीसरी अमानत अल्लाह की हमारे पास है वो वक्त है जो वक्त अल्लाह का है वो हमें दिया है बहुत ही कीमती वक्त है मेरी माँ बहने वक्त सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती है मेरी माँ बहने अगर सोना चांदी खो गई तो उसको फिर कमा लेंगे अगर वक्त गया तो वापस नहीं ला सकेंगे मेरी माँ बहने गौर करें कितने लोगों का वक्त अस्पतालों में गुजर रहा है बाज़ारों में गुजर रहा है गुनाहों के कामों में सोने में गुजर रहा है मेरी माँ बहनें ये नियामत बहुत बड़ी नियामत है अगर हम इसको सही जगह इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पकड़ होगी बचपन में वक्त माँ बाप के घर में गुजर जाता है शादी के बाद शोहर के घर में गुजर रहा है मेरी माँ बहनें सहाबियात माँ बाप के शोहर के घर में गुजारते हुआ भी अल्लाह के घर में अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए वक्त निकालती थी मेरी माँ बहनें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रास्ते में निकलते तो अपनी बीबियों में कुरा डालते जिसका नाम निकल आता तो उसको अल्लाह के रास्ते में ले जाते मेरी माँ बहने देखो जान भी अल्लाह की अमानत है माल भी अल्लाह की अमानत है वक्त भी अल्लाह की अमानत है अगर हम इसको सही जगह इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह ताला जन्नत देंगे मेरी माँ बहने अगर हमारे बच्चे को दस रुपये देकर पाँच रुपये की मिर्च लाने के लिए भेजेंगे जब बच्चा मिर्च लेकर घर आएगा तो हम उसका हिसाब लगाएंगे और उससे पाँच रुपये मांगेंगे अगर वो सही हिसाब नहीं बताएगा और पाँच रुपये नहीं देगा तो हम उसको डांटेंगे मारेंगे इसी तरीके से मेरी माँ बहनें जितने दिन हम दुनिया में जान को खर्च करके माल को खर्च करके वक्त को खर्च करके अल्लाह के यहाँ जाएंगे तो पकड़ होगी अल्लाह हमसे हिसाब लेंगे अगर मैं अगर हम उसका हिसाब सही देंगे तो अल्लाह भी हमको जन्नत देंगे अगर हम उसका हिसाब अगर हम उसका सही हिसाब नहीं देंगे तो हम हमें अल्लाह अल्लाह भी हमें सज़ा देंगे मेरी माँ बहनें अल्लाह फरमाते हैं जान को माल को वक्त को मैंने जन्नत के बदले में ख़रीदा है मेरी माँ बहने मेरी आप सब लोगों से ये आजिजाना गुजारिश है ये ती, के ये तीनों अमानतों को सही जगह खर्च करने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलते रहे और हफ्तावारी इजतमा में जुड़ते रहे इन मुझे कहने से आपके सुनने से ज़्यादा अमल की तोफ़ी अता फरमाए आमीन وما علينا البلاغ السلام عليكم बलाग الله وبركاته ما شاء الله ما شاء الله क्या बात बताई मैं बच्ची तो ये मुश्किल है देखो सब जनासी इनामा भी बल्ला कहीं तेरे को आगो ले जमा क्या कि अच्छे बात हम बताना तो जमाता में निकलने के बाद हम बताई तो <laughs> ये मुश्किल होता नहीं आदमिया को देखो इसे इनामों पर इनाम आती भाई बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने माशाल्लाह नियत करो सब लोग जमात में निकलेंगे इनशाला बोलो सब जने घट्टू अंदर भी हाँ छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं ना माशाल्लाह देखो माँ कितनी अच्छी बात कर तो ये बचपन में माँ बाप के घर में रहती और बड़े होने के बाद मरद के घर में रहती हमें बोल लेते हैं सो उत्ताश देखो या तो माँ बाप के घर में रहना या तो मरद के घर में रहना लेकिन मेरे मोहतरम माँ बहनों रसूल वसल्लम के ज़माने में रसूल वसल्लम की बीवियाँ रसूल वसल्लम के साथ अल्लाह के रास्ते में भी गई कते देखो वो ज़माने में रसूलुल्लाह के बीवियां भी अल्लाह के रास्ते में निकली ये बात हदीस की बड़ी बड़ी किताबों के अंदर भी लिखी हुई है अब हमें लोग मर्दा को बुलाने को माँ के घर को भी जाती ननंद के घर को भी जाती जेठ के घर को भी जाती उर्स को भी जाती और लास्ट को जो है एग्जीबिशन को भी जाती करनोला को भी जाती लेकिन जमात में नहीं जाते सब जगह जाती फिरने जाती टूर में जाती टूरिंग को जाती टूरिस्ट को जाते रहती अल्लाह हिफाजत फरमाओ अल्लाह हिफाजत फरमाओ रसूल सल्लम अपने बीवियों में कुरा डालते लाटरी डालते किसका नाम आता उसको साथ को अल्लाह के रास्ते में जाने कितनी अच्छी बात ये बच्ची हमारे को बताइए अल्लाह इसे जजाय खैर अता फरमाए जितनी माँ बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं सभी लोग नियत करो इन अपने वक्त को सही करने के लिए और अपने घर के मर्दों को लेकर अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे इन अब इसके फौरन बाद अल्लाह का कलाम सुनाने के लिए और अल्लाह का कुरान सुनने के लिए मैं दावत देता हूँ यासमिन बिनते शख्सावली को ये शोबा हिफ्ज ये बच्ची हिफ्ज करती है और तकरीबन दस बारह पारे इसके हो गई और ये बच्चे हमारे सामने कुरान की तिलावत करेगी और ध्यान से सुनो ये अल्लाह का कलाम है